वो जिसके लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है और जिसने औलाद नहीं बनाई और न कभी बादशाही में कोई उसका शरीक रहा है और जिसने हर चीज़ को पैदा किया फिर उसका अंदाज़ा मुकर किया पूरा अंदाज़ा